और अगर तुम्हें डर हो कि यतीमों के हक में इंसाफ न कर सकोगे तो दूसरी औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए दो दो और तीन तीन और चार चार के साथ निकाह करो सो अगर तुम डरो कि तुम अदल न कर सकोगे तो एक ही से निकाह करो या वो जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों लौंडियां ये ज्यादा करीब है कि तुम इंसाफ से ना हटो